दादा एक बार जब कलाकारों से बातचीत करते हैं अभी जैसा भी आपने कांकरिया के बारे में बताया था कांकरी खोलने के बारे में तो वो भी ये बात करते हैं कि फला जो कंपोजिशन है वो अब नहीं बसता है या वो गीत अब प्रचलन में नहीं रहा है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में डॉक्यूमेंटेशन का जो कार्य अब तक किया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है और अब इन गीतों को या इन सब बातों को कैसे संरक्षित किया जाना चाहिए ऐसा है कि तो पहले जो इनको गाना पड़ता था अपने सामाजिक प्रसंग में अर्थात इनके विषय को प्रसंग के अनुकूल रहना पड़ता था हम सहूलियत से कह देते हैं कि भाई ये विवाह गीत है ये बच्चों के जन्म का गीत है ऐसा अपन कह देते हैं सुविधा से लेकिन विवाह का मतलब क्या है ट्रेडिशनल वक्त के अंदर गणेश की स्थापना जो है वो महीने भर पहले हो जाती थी हम्म। फिर बंदोड़ियाँ होती रहती थी और फिर आज की शादी तो एक दिन में सिमट गई है हम्म। और अगर उसी नगर के अंदर है तो आधे दिन में सिमट गई है <laughs> समझ आप अब जहां पे ये सब रिचुअल्स होंगे तो वहां सब आपको गाने पड़ेंगे शिष्यों को आप जब घोड़ी नहीं चढ़ रहे तो घोड़ी का गीत कहां से गाएंगे <laughs> तब तो सवाल ये होता है कि उन तो जो 40-50 साल की उम्र के ज़्यादा लोग हैं गाने वाले उनको डेढ़ हजार के करीब गीत याद है तो वो गाने पड़ते हैं उनको बच्चे का जन्म हो गया जवाई आ गया ये हो गया वो हो गया इस वक्त ये होगा इस वक्त भात का होगा तो इसमें ये रिवाज है तो ये गीत गाएंगे हल्दी चढ़ाने का गीत ये तो हल्दी उतारने का गीत ये है तो वो सब चीज़ें उनको याद होनी होती हैं तो वो क्योंकि वो अवसर कम हो गए तो वो याददाश्त से गीत निकल गए हर एक गीत था तो उसकी अपनी धुन थी अपना टैक्स था तो टैक्स छूटा ये छूटा तो ये परिस्थिति और अब उसके एवज के अंदर क्या हुआ कि आपने जोधपुर में गाया फिर दिल्ली में गाया फिर कलकत्ता में गाया फिर बेंगलोर में गाया फिर आपने लंदन में गाया फिर पेरिस में गाया कहीं तो आपको अगर तीस चालीस गीत याद है तो आपकी निकल आपका काम चल जाता है और तीस चालीस गीतों में आप कितनी तूल फैल कर सकते हो वो तूल फैल आप बाहरते चले जाओ तो नहीं अच्छा क्योंकि वहां प्रसंग के अनुसार तो आप गा नहीं रहे हो कान को कौन सा अच्छा लगता है लय के हिसाब से कौन सा अच्छा है हम्म। धुन कौन सी आकर्षक होगी इस हिसाब से आपको गीत चयन करना पड़ता है तो सबसे बड़ा नुकसान जो मतलब इस दौरान के अंदर हुआ वो ये कि गीतों की संख्या कम होती चली गई और वो श्रृंग निरंतर श्रृंग हो रही इसके अलावा चूंकि पॉपुलर के लेवल पे कुछ चीज़ें आती हैं तब ये भी जो चीज़ें पॉपुलर हो चुकी हैं या होने वाली हैं या हो जाएंगी उसके लिए अब इनको जो अभी जिन प्रसंगों में गाना पड़ता है तो उस प्रसंगों के अंदर भी लोग डिमांड करते हैं सर भी अब ये गाओ अब ये सुनाओ तो, तो जैसे आप कहीं चले जाओ टूरिस्ट डिपार्टमेंट के साथ ये करके हुए तो वो कहेंगे मांड सुनाओ और जैसे कुछ है ही नहीं संसार में सुनने को कुछ शेष रहा ही नहीं कि मान सुना अच्छा मान आप गाना शुरू कर दीजिए अब मान नहीं गा के आप सूप गा रहे हो सुरट गा रहे हो भैरवी गा रहे हो तो भी सुनने वाले के लिए तो वो मान ही है लोग वो तो डिस्टिंग कर नहीं सकता वो डिस्टिंग कर सकता तो एक ही बात से कहता है केसरिया वालों को उसमें आयात नहीं आया वो नहीं आया तो वही वो केसरिया वालों वो वो सुनाओ ये डिमांड करने वाला आदमी गाना शुरू करता है उसी वक्त वो सो जाता है he doesn't listen to that song he has nothing to do with it now this type so ये गाने वाले लोग इन चीजों को समझते हैं ये नहीं समझते तो सवाल नहीं है अच्छा, ये लोग क्या है कि इनको गाना बजाना ऐसी परिस्थिति में पड़ता अधिकांश अधिकांशतया आज की तारीख में भी शादी ब्याह में पहले तो अपने जजमानों के जाते थे अब दूसरों की शादी ब्याह में भी जाते हैं हम्म। तो वहाँ क्या होता है कि निछरावल होती है अपने यहाँ पे तो निछरावल के लिए गाना पड़ता है तो ये जानते हैं कि घर की जो बच्ची है लड़कियां हैं ये है वो वो नाचेंगी तो निछरावल में पैसा ज़्यादा मिलेगा तो वो ऐसी चीज़ें गाएंगे जिसके अंदर उनको मालूम है कि स्कूल की लड़कियां ये इस उम्र की लड़कियां हैं वो ऐसे ऐसे पे नाचेंगे करेंगे तो उस किस्म के गीत गाएंगे तो क्योंकि ये एक जगलर की तरह से स्ट्रिक्ट जगलर होता है वो अपना खेल दिखाता खेल दिखाता है जम्बुरा कर ये कर वो कर फलान ये कर और उसके बाद में अपना हेट लेके जाता है कि भैया आप कुछ दो कुछ देते हैं कुछ चले जाते हैं कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं करते वहाँ तक दूसरे देखते हैं तो जो कुछ उसको ऑडियंस में इतना खेल दिखाने के बाद में जो कुछ मिल जाता है वो उसका तो उसको खेल करते वक्त इस हिसाब से करना पड़ता है कि लोगों का हाथ जेब में जाए दो पैसा निकल के उसको मिले तो ये जगलर की तरह बिकॉज उनकी फीस पहले फिक्स नहीं है सिनेमा जाओगे आप तो पहले टिकट आप खरीदोगे आपको पसंद आया नहीं पसंद आया तो कभी पसंद नहीं आया टिकट पैसे वापस दो तो वो तो दिक्कत नहीं है या आप देख के जाओ आपको पसंद आए तो दे जाना नहीं तो चले जाना तो वो तो है नहीं तो इनकी परिस्थिति उस किस्म के गायकों के लेवल पर बनती पहचान बनती जा रही है उस पहचान के अपने जो खतरे हैं वो संगीत को उठाने पड़े लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य किया जाना चाहिए अब उसके लिए क्या और गति की आवश्यकता है क्योंकि निश्चित रूप से दिन ब दिन इनकी संख्या कम तो होती जा रही है गीतों की श्रिंक होता जा रहा है पूरा तो ऐसे में जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है नहीं वो क्या करोगे मतलब वो आप नेट में डॉक्यूमेंटेशन तो हर वक्त हर चीज़ का करना आवश्यक है हम्म। तो उसमें कोई कोई कम और ज़्यादा का सवाल नहीं उसका क्या ये डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसी चीज है कि जिसका एक प्रयोजन है और उस प्रयोजन की प्रक्रिया के साथ ही कौन किस काम के लिए कर रहा है मैं अगर कर रहा हूँ तो क्या मेरा प्रयोजन है संगीत नाटक अकेडमी करिए तो उसका प्रयोजन क्या है या आप कर रहे हो तो आपका प्रयोजन क्या है मतलब what for that you are doing maybe that whatever you are recording today, um, in your life you will never listen to it. Mm, and uh, maybe in say, another 10 years somebody might think of a Komal living in locked somewhere, something is lying there, let me listen to him. Hmm? So I don't hope this recording will ever go. I, तो हमारे पास छह हजार सात हजार घंटे से ज्यादा का रिकॉर्डिंग है वापस सुना क्या है डू एवर हियर बैक हम कैसे बाजार से खरीद के भी ले आते हैं सीडी खरीद के भी ले आते हैं सुनते हैं कभी अब लेकिन शहरों की ये मजबूरी हो गई है कि बॉम्बे के अंदर आपको अपने घर से निकलोगे और ऑफिस में पहुंचोगे दो घंटे लग जाएंगे तो आप गाड़ी में बैठे हो तो आपने सीधी लगा तो आप सुन रहे हो लेकिन फिर फिर आपने मान लीजिए विषय ले लिया कि मेरे पास तंतुवादी को दिखो तो मेरे आर्काइव्स में तंतुवादी में तो वो चीज़ें आप सुन लो हाँ। कल आएगा कोई कि भाई मैं सोरठ के बारे में जानना चाहता हूँ तो वो सोरठ सोरठ सुन लेगा और आपने जो कर लिया वो सुन लेगा आपने नहीं किया तो उसको सुनने को नहीं मिलेगा तब क्या है कि जिस किसी भी विधा के साथ आपको काम करना पड़ता है उस विधा की जितने वेरिएशन आपको मिल सकते हैं तो हमने चार चार या पांच कैंप किए बच्चों के पहले कैंप का एक आधार था दूसरे कैंप में वो आधार बदला आखिर जो कैंप हमने किया उसमें हम ये नतीजे पर पहुंचे कि ये सिखाए नहीं जाते हैं ये सीखते हैं हम्म। और सीखने का क्रम जो सबसे पहले हमने बच्चों के अंदर देखा उसमें एल्डर का कोई रोल नहीं था लेकिन गांव के समान उम्र के बच्चे साथ साथ गा रहे हैं उसमें लंगा मंगनियार भी हैं और गांव के बाम्बी और वो लोग बच्चे भी शामिल अच्छा। तो वो गीत वो गा रहे तो यूँ हम करते थे पहले भी लेकिन इस दफ़ा हमने कॉन्सेंट्रेटेड ढंग से किया कि हमारे कैंप में आने के पूर्व जो कि गांव के बच्चे आए थे उनको कितने गीत याद हैं उन सबको रिकॉर्ड किया ऑलरेडी हम्म। हमारे कैंप में आने के पूर्व हम्म। जो गीत उनको याद थे वो हमने रिकॉर्ड किया फिर दूसरे गांव के फिर तीसरे गांव के चौथे गांव ऐसे करे अलग अलग गांव के ग्रुप एक जना था तो एक जने सब किया हम अब इसमें हमको ये पता लगा कि इस गांव के बच्चे इस गांव के ये जो गीत गा रहे हैं वो इनको नहीं आता है उन बच्चों को कहा कि इनको गीत सिखाओ हम्म। इनको तो गीत याद था उनको याद नहीं था इनको इनको कहा वो उनके साथ react so it was not प्रशिक्षण जो सीनियर म्यूजिशियंस थे उन सीनियर म्यूजिशियन के एक सुबह एक घंटा और शाम को दो ढाई घंटा तुम जो अपना अच्छा से बजा सकते हो अच्छा से सजा सकते हो वो बच्चों को सुनाओ सिखाना कुछ नहीं वो सिर्फ सुने और वो आप वीडियो देखो तो आपको पता पड़ेगा कि ये बच्चे कितनी माइन्यूट तरीके से सुनते हैं सुनते हैं जैसे आँख कान उनका पूरा शरीर का शरीर आपको लगेगा कि वो खुला हुआ है इसके बाद हमने फिर एक्सपेरिमेंट किया कि जो पचास साल का आदमी है साठ साल का आदमी है बड़ी उम्र के जो लोग थे इनसे कहा भी आप याद करके जब तुम इन बच्चों की उम्र में थे तब कौन से गीत गाते थे तो हमारे चार गीत चार कैंप के जो हमारे यहाँ आए वो जो गीत गा रहे थे तो क्या वही गीत आज का बच्चा भी गा रहा है क्या नहीं गा रहा है वो दूसरे गीत गा रहा है इसके पहले कैंप किया था उसके जो बच्चे गा रहे थे वो दूसरे गीत थे उसके पहले थे वो तीसरे तो गीत थे फिर हमने कहा तुम बड़े हो तो तुमको जो भी याद है सुनो दो लाइन है तो दो ही सुनो चार है चार पूरा याद है तो पूरा सुनो तो हमने उन लोगों के वो गीत वो गीत अब कहीं है ही नहीं available and when the children listen to the songs songs by sixty old people in their childhood what were they thinking they were absolutely fascinated by it कि भाई ये गीत है हमने ये कोशिश नहीं की कि ये गीत इनको सिखाओ लेकिन हमने देखा उस कैंप के माध्यम से दस बारह लड़के थे उन्होंने ध्यान रख करके वो गीत याद कर ली तो कौन याद कर लेता है कौन याद नहीं कर लेता है कैसे याद कर लेता है कैसे याद नहीं कर लेता तो हमने अपने तरीके से काम किया हमको ये मालूम है कि जो अमंग लंगाधन Manganiyar that they all professional groups इनको मुख्यतया लाइफ साइकिल के ओकेजन पे गाना पड़ता है जन्म मृत्यु विवाह त्यौहार इस वक्त इसी वक्त पे औरतें भी करती हैं उनके तो इनके गीत 80 परसेंट गीत से ज़्यादा औरतों के गीतों में साथ हैं तो उनके गीतों की जो रचना पद्धति है वो रचना पद्धति इनके गीतों में भी मिलती है लाइनें कैसे चलेगी पैराग्राफ कैसे चलेगा स्टैंडा कैसे चलेगा धुन का काम कैसे होगा क्या नहीं होगा वो चीज़ें तो हमने जैसे इनसे कहा कि भाई जैसे ये औरतों को रिकॉर्ड नहीं करने देते आजकल पहले तो ये औरतें मंगनियार औरतें तो घरों में जाके गाती थी जैसे जो महिलाएं गाती हैं वैसे ये भी गाती थी अब इन्होंने जात से बना कर दिया अच्छा आ, लंगों की औरतें दुकान नहीं जाती थी लेकिन इनके घर में शादी हो जब तो गाती हैं कि बच्चा हो जब गाती हैं कि तो तो मैं बाप इधर मेरे घर में शादी हुई तो मैं लंगा परिवार ही है तो उनके औरतों को भी बुला लिया तो मेरी बेटी की शादी हुई तो उसको गायक गया तो हमने रिकॉर्ड कर ली हम्म। उनको क्या क्या किया उनको इसमें एतराज नहीं था कि ब्याह मेरे lot of songs which are now become very popular being sung by the male singer actually got it revise from the women lot of songs. योग उससे हमको ये भी पता पड़ा कि औरतों के गीत औरतों के कृतित्व के गीत और इनके पुरुष परंपरा में गाए हुए गीत ये दोनों बिल्कुल तेल और पानी की तरह अलग अलग किए जा सकते तो ये अब क्या किसको कौन सा याद है क्या नहीं याद है हम इस नतीजे पे पहुंचे कि बीस एक साल का जब तक आदमी होता है उस वक्त तक तो वो सीखता है उसके बाद में एक ब्लॉक आ जाता है हम्म। उसके बाद में नया गीत नहीं सीखता नया गीत वही सीखता है कि जो पॉपुलर हो जाता है हम्म। अपनी ट्रेडिशन से उसके खोद बखेर करके इस गीत को हम्म। सीखे ये बात समाप्त हो है तो जिज्ञासाओं का क्रम है अपने तरीके से इसलिए कहते थे हम सीडीज वगैरह निकालने की कुछ छः सीडीज हमने निकाली अब अपना तीस एक सीडीज और हमारे निकालने का प्रोग्राम उसके अंदर हम ये प्रयत्न करेंगे हम ये जानते हैं कि आज की तारीख में इन गीतों को जिन चीज़ों को हम गंवाएंगे वो पॉपुलर के लेवल के भी नहीं होंगे और ये भी जिसको विस्मृत करते जा रहे हैं या विशिष्ट जगहों पर भी गाएंगे हम्म। जैसे मेरे सामने गाएंगे तो वो निश्चित रूप से वैसे कोई गीत गाने की कोशिश नहीं करेंगे जो हर परफॉर्मेंस में गाएंगे मैं अगर मौजूद हूँ तो चाहे कैसी पार्टी हो कुछ भी हो मैं अगर मौजूद हूँ तो ऐसा एक ही गीत ये नहीं गाएंगे जब तक कि मैं हाँ नहीं कह दूंगा वरना यही कहते हैं शायद मुझको याद नहीं है यहाँ तक कह देंगे मैं बैठा हूँ तो मैं नहीं बैठा हूँ तो फिर कुछ भी हो सकता है <laughs> तो वैसे गीत हैं तो ऐसे गीतों को हम निकाल लेते हैं लेकिन मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज की तारीख में नहीं बिक सकेंगे लेकिन आज से 20 साल बाद यही रिकॉर्डिंग हमारे सबसे बड़ी पूंजी होगी जो आज शास्त्रीय संगीत में देखना चाहें तो जैसे कुमार गंधर्व के बैठक के, के गाय हुए गीत आज उतनी के, उसकी जितनी सेल है उसकी मॉडर्न किसी चीज़ की सेल है क्या So similarly, a time would come when the value would be given to it. And that value, what does it mean? Is something, you know. But in that case, you have to be very, very careful in selecting the things which you feel would be lost. And which, again, in time to come, they will try to regain it. Same people. Or the same tradition. तो तो our future किसी that is that way working is working for future this not working for today today. ऐसा भी कहते हैं कि संगीत जो है वो सिर्फ मनोरंजन का एक माध्यम नहीं है वरन साधना का भी एक विषय रहा है तो इन लोक कलाकारों के जीवन में अध्यात्म के प्रति क्या समझ है ये इसको किस अर्थ में लेते हैं देखिए अध्यात्म को क्या कि इसमें सबकी अपनी अपनी समझ है कि अध्यात्म से कौन क्या मतलब ले रहा है जहाँ तक इनके अपने जीवन और विश्वास और मानवीय संवेदनाओं का प्रश्न है मार्मिक संवेदनाओं का प्रश्न है वो उस जीवन की घेरे से ये बाहर नहीं है जो कोई मनुष्य नहीं कोई नहीं तो निश्चित रूप से ये इनके पास जो ये विधा संगीत की है इस विधा का प्रयोजन उसी मानवीयता को परिपुष्ट करने के लिए ही कर सकते हैं ऐसा कोई प्रयत्न हमको नहीं दिखता कि जो मानवीय प्रतिष्ठा के विरुद्ध किसी स्थिति को पैदा करता हम्म। अब अध्यात्म मतलब है कि भाई कोई पूजा पाठ करते हैं तो मांगने तो उनका अगर उस धर्म की दृष्टि से हम देखना चाहेंगे तो हमको दिखेगा ये कि मुसलमान है हिंदू घर में ही गाते हैं हिंदू घर के शादी भी आए हैं उसी रीति रिवाज को ये करते हैं इनके खुद के शादी भी आए हैं तो उसके अंदर दोनों ही किस्म की चीज़ें हिंदू मुसलमान की तो गड्ढ मड हैं इनके विश्वासों का सवाल है तो सब देवी देवताओं के यहाँ पे ये जाते हैं बल्कि कुछ देवी देवता ऐसे हैं कि जो इनके मुख्य जिसके तो मुख्य उपासक ही हैं जिसके तो ये पुजारी ही माने जाते हैं अगर इसको हम अध्यात्म मानते हैं फिर सूफी मटेरियल इन लोगों के पास है इनके पास कबीर है इनके पास मीना है इन सब चीज़ों को ये निरंतर गाते बजाते हैं और लोगों के लिए बजाते हैं और उसको खुद समझते हैं आत्मीय रूप से अगर ये अध्यात्म है तो ये अध्यात्म है अच्छा इनको कहा भी गांव में कहा भी ज्यादा फकीर कहते हैं तो मतलब उनको गाने वाले और कलाकार कोई नहीं कहता फकीर ही कहते हैं और फकीर मंगते के हिसाब से नहीं फकीर जिसने अपनी अच्छा। जीवन ही जीवन हाँ, साधना के लिए दे दिया समर्पित हो उस दृष्टि से निश्चित होते तो फिर इनकी अपनी अपनी मान्यताएं अपनी अपनी समझ है इनमें बहुत सारे कबीरपंथी हैं मुसलमान हैं लेकिन कबीरपंथी हैं और इनमें तो बहुत सारे रामचंद्रियों के भक्त हैं बहुत सारे दादू पंथियों के भक्त हैं ये सब इनमें मिलते हैं बहुत सारे रोहिल यूँ सूफी सेंट है वो लेकिन रोहिल का पंथ है वो यूँ उसमें होते मुसलमान और हिंदू दोनों ही होते हैं लेकिन विष्णु का वो त्रिपुंड जो है वो तिलक लगाते हैं तो रोहिल की चीज ये गाते हैं गोरख की चीज़ें ये गाते हैं तो और गाते हैं खाली गाने के हिसाब से नहीं महसूस भी करते उसकी उसकी आत्मा को समझ के गाते हैं उसके अर्थाव को करने के ढंग को समझ के गाते हैं तो ये सब चीज़ें तो वो पक्ष अगर हम देखते हैं तो उस पक्ष को उस दृष्टि से देखना पड़ेगा उसको हिंदू मुसलमान इस लेवल के ऊपर विभाजित करके देखने से कोई अर्थ हमको उसमें नहीं मिलेगा क्या लोक वाद्य या अनेक जो अन्य लोक प्रतीक हैं उनको सामाजिक विकास की अवधारणा को समझने में एक महत्वपूर्ण मतलब ये लोक प्रतीक जो है सामाजिक अवधारणा को समझने में एक महत्वपूर्ण धरातल प्रस्तुत करते हैं इस बात को कैसे देखा और समझना बात प्रतीक कैसे किसको मान रहे हो आप कई जो लोग अपने विश्वास हैं लोक मान्यता है जैसे अभी पिछले दो तीन दिन से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो बहुत छोटी छोटी बातें भी ऐसी हैं जो उनकी सामाजिक परिपक्वता और विकास को समझा जैसे जाड़ू का भी आप कल चर्चा कर रहे थे तो इससे उस पूरी सभ्यता और उस पूरी एक परंपरा के बारे में हम अध्ययन के लिए धरातल को खोल देते हैं तो इसको किस तरह से समझना चाहिए किस तरह से देखना चाहिए संगीत के परिप्रेक्ष्य में हम्म। बात करें तो क्या है कि सामाजिक रिश्ता जिससे कि समाज का हम्म, एक संगठित स्वरूप हमको दिखाई देता है जन्म जन्म मरण परण ये एक चक्र है एक साइकिल है और मनुष्य को तीनों साइकिल्स में से तो गुजरना पड़ता है तो हर एक बच्चे की शिक्षा का क्रम या उसकी समझ का क्रम वापस प्रारंभ से ही होगा ऐसा नहीं होगा कि भी मेरा बच्चा है तो वो होते ही वो पहले कोमल हो गया फिर बाद में वो बढ़ेगा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होगा क्रम ही है उसी उसी क्रम में से उसको भी गुजरना पड़ेगा फिर ये देखना पड़ता है कि इन गाने बजाने वालों का जो इस क्रम के साथ जुड़ाव है उसका सामाजिक क्या महत्ता है जिजात बर्थ सर्टिफिकेट के बिना स्कूल में भर्ती नहीं हो सकते लेकिन when you were admitted nobody आज for the birth certificate but your child is going then without birth certificate. So what does this birth mean? Why it so necessary? Why it is very important legal document? तब हमको पता पड़ता है कि भाई क्योंकि जो भी बच्चे का जन्म होते ही उसके अधिकारों के साथ वो जन्म लेता है उन रोजगारों की रक्षा के लिए ये प्रमाण पत्र उसके पास होना आवश्यक है मर जाओ तब भी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए कि उसके उत्तराधिकारी कौन है कौन वारिस हैं कौन वारिस नहीं है किसके क्या अधिकार हैं क्या नहीं अधिकार हैं विवाह उस परिस्थिति को पैदा करता है कि उस अधिकारियों को की परिस्थितियों को निर्मित करती तो जब हम ये बात करते हैं लाइफ साइकिल की गीत गाते हैं then we forget that we playing a very important role as far as social organization is concern what are they maintaining they are maintaining the whole social fibre legal fibre by which the human being can exist in one way or other it is that store with they are carrying with them तो गीतों का मैं तो हम तो गीतों के भाई ये, नानंद ने ये कर दिया फलान ने कर दिया ये ढूंढते हैं ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं है उसके ढूंढने की आवश्यकता है कि वो वहाँ पर रूल क्या है उसका सामाजिक रूल क्या है इसीलिए गीत जैसे वीर गीत हैं तो वीर गीत का विषय क्या है कि जिसके अंदर बहन की शादी हो गई चला गई बहन गई बहन को लेने के लिए भाई गया तो गीत एक गीत है जो गाया जाता है बीकानेर की तरफ भी गाया जाता है दूसरी तरफ भी गाया जाता है उसमें मेरे को बहन भाई गया लेने के लिए तो बहन ने अपने पति से कहा कि भाई तो इतने जेवर वेवर पहन के आया किया तो उसको मार डालना ये सब ले लें अपन तो बहनों ने कहा तुम तेरे भाई है सगा भाई है तू तो ऐसी बात करती है मुझसे तो बात की अंदर किसी ऐसी बात करना मत तो अपने देवर के पास जाती है देवर से ही बात कहती है तो देवर विजयी मिलकर भाई को मार के कुएं में डाल देते हैं जीवन ले लेते हैं उसके बाद में माँ बाबा से कभी बेटा आया था तुझे तो लेने के लिए कहाँ वो तो आया था वो वापस चला गया हमारे तो माँ बाप एक्यूज करते हैं कि तुमने उसको मलबा डाला रोते रोते निकलते हैं ढूंढते हैं उसको तो कुओं वो कुआं बावड़ियों को देखते हुए जाते हैं एक शिव और पार्वती निकलते हैं तो उनको रोता देखते हैं उसके बच्चे को वापस पुनर्जीवित कर देते हैं भाई अब ये गीत है बीरे का गीत है शादी के मौके पर गाया जाता है क्यों गा रहे अब इस तरह का अस्सी गीत है हमारे पास अस्सी गीतों में तो भाव यही है लेकिन हमको समझ में जब आता है कि जब दिवाली का हो होली का त्यौहार हो नवरात्रि हो जिसमें पूजा घर में होगी तो एक थाली होगी जिसके अंदर सब चीज़ें रखेंगे वो कहें भाई यहाँ आती है तो दो तीन ले सकती बेटी लेगी हाथी तो हाथ से दिया हुआ हाथ से दिया हुआ उसका हाथ है पाती बहु पाती की हकदार है ये हाथी की हकदार हम्म। क्या वीर गीतों में हाथी और पांति का भाव निहित है because it is always something which has to go गुगरी गीत गाते हैं गुगरी गीत का भाव क्या है कि बच्चा हुआ तो गुगरी बांटते हैं तो थोड़ी थोड़ी थोड़ी बच्चे का समाचार देना होता है बच्चा हुआ तो जिसके बच्चा हुआ वो कहती है अपने पति से भाई सबको गुगरी देना लेकिन नणंद को मत देना वो तो सबको देता था कि भाई नणंद को कैसे नहीं दूँ तो नणंद को भी दिया था वापस आती है उसे कहते तो सबको दे दी सबको दे दी तो वो कहता है कि मैं सबको दी तो मैं बहन को नहीं कैसे दूँ मैं तो उसको भी दे के आ गया तो बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है बाग भी खेल लेती है कर लेती है जब तो तुम वापस नानंद से लाओ लेके आओ जब तो गुगली लेके नहीं आओगे तो सब बच्चे को दूध नहीं पिलाना तो भाई जाता है बहन के पास बहन को जाके कहता है कि भाई पता नहीं किस घर की बहू आई वो तो ऐसे कर दिया तो वो कहती ठहरो वो सुनार तो कर जाती है सुनने के चार टाउन बना के लाते this is this is but then the problem is who this song औरत इस गीत को गा रही है वो किसी की बहन है किसी की भांजी है किसी की भतीजी है किसी की बेटी है किसी की माँ है मैं हूँ तो किसी का बाप हूँ किसी का बेटा हूँ किसी का भूखा हूँ किसी का बहन हूँ किसी तो जितने सामाजिक रिश्ते हो सकते हैं जितने नाम हो सकते हैं वो सब मैं हूँ उसी तरह से एक औरत वो सब रिश्ता है जो एक औरत है उसमें न कोई बहन है न कोई भाई है तब ये गीत गा सकते हैं बाकी औरतें गीत कैसे गा सकती हैं क्यों गाएंगी वो गीत हम्म। वही बोलते सिंह तो असामान्यकरण या अवयक्तिकरण गीतों की प्रमुख आत्मा बन के आती है अब जब तक ये चीजों को आप गीतों को कुरेद कुरेद के नहीं देखेंगे तब तक आपको अभी आज की तारीख में तो ननंद बोजाई के झगड़े अरे ननंद बोजाई का झगड़ा नहीं है ये उससे बहुत उससे बड़े विराट तथ्य की ओर इशारा कर रहा है इसे तो सब गीतों का यही सब परिस्थिति जेवर का वर्णन तक माथे पे ये नाक में ये कान में ये ये क्या मतलब क्या एक सूची है गणों की गीत का अर्थ क्या गीत का अर्थ निहित करता है कि वो ऑर्नामेंट क्या डिनोट करता है कमारी लड़की क्या पहन सकती है सदवा क्या पहन सकती है विधवा क्या पहन सकती है क्या नहीं पहन सकती है कौन सा जेवर पति के घर से आएगा कौन सा जेवर ससुराल के पक्ष से आएगा ये सब फिक्स्ड है और इसलिए वो सब प्रतीक और वैल्यू हैं सोसाइटी सोसाइटी के जब गीतों के माध्यम से इन चीज़ों को रिवील करके आता है तब हम अपने समाज की संगठनात्मक प्रक्रियाओं को मार्मिक व्यवहारों को मार्मिक संवेदनाओं को समझने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं तब तक हमारे सामने अंधेरा सब गीतों के अंदर ये परिस्थिति हमको मिलाई मिलती है और इस हिसाब से ये बहुत और जिस किस्म से डाइवर्सिटी विभिन्न प्रकार के समाज के विभिन्न प्रकार के जातियों के विभिन्न प्रकार विभिन्न क्षेत्र के रहने वालों के उन सब के जो परिवर्तन है वो सब परिवर्तन इनके अंदर दिखाई देते हैं थोड़ा आधी सदी से भी ज़्यादा आपने लोक कला का सफर के बाद इन दिनों आप क्या सोच रहे हैं अभी के जैसे महिलाओं के गीतों के बारे में बहुत कॉन्सेंट्रेट रूप से काम करने का अभी शुरू भी किया वापस से हम्म। इसके बहुत सारे समस्याएं उसको देखने का मन है हम्म, गौरी पे बहुत काम करने का मन है जो नहीं कर पाए एक ढंग से और मुझे गौरी एक महीने के लिए जो करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है ये साल भर गौरी का क्या अर्थ है वो उससे मतलब है हम्म। हम्म। और उस जीवन के संचालन की प्रक्रिया के अंदर उसका रोल मैं दूसरी तरीके से देखता हूँ और प्रदर्शनात्मक पक्ष को एक अलग तरीके से देखता हूँ उसको काम करने की इच्छा है वाद्यों के अंदर एक और काम करने की इच्छा है और नए काम ये जब मैंने एथनोग्राफिक म्यूजियम का तो सूचना प्रारंभ किया ये दरअसल बहुत बड़ा काम है तो, तो ये कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो कोई पता नहीं लेकिन ये मेजर मतलब मेजर एंगेजमेंट्स जो हैं तो वाद्य वाला और म्यूजियम वाला ये तो डेफिनेटली हाथ में रहने का महिलाओं वालों के संबंध में महिलाओं के गीतों के विषय के अंदर मैं बहुत लोगों से कह रहा हूँ कि तुम करो करो करो करो करो लेकिन आ, वो एक आश्चर्यजनक चीज की तरह से संग्रहित करने की तो उनकी तैयारी है <laughs> लेकिन उसके जो अंतरंग मीनिंग्स हैं उनको समझना उनको निकाल के लाना उनको निकाल के लाना अर्थों को सही माने में समझना और अर्थ कर पाना ये ये, ये बहुत जटिल है फिर इसका काव्य पक्ष है इसका फिर छंद पक्ष है इसका फिर स्टैंड का पक्ष है इसका फिर राइम और रिदम का पक्ष है ये सब पक्ष हैं फिर उसका मेलोडी का पक्ष है मेलोडी की संगीत की धुनों की निर्मित का सवाल है ये बहुत सारे सवाल हैं जो इसके अंदर जवाब मिलने चाहिए और उसके अंदर भी जवाब मिलेगा कि ये जाति संगीत और मूर्छनाओं की पद्धति को देखेंगे तब हमको उसका अर्थ मिलेगा ये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ और आज की तारीख में यदि जातीय संगीत किसी भी रूप में जीवित है तो महिलाओं के गीतों के अंदर हमको निश्चित रूप से मिलना चाहिए और ये अगर प्रमाण नहीं तो फिर जातीय संगीत का कोई प्रमाण नहीं एक बहुत छोटा सा प्रश्न है पर बहुत आवश्यक लगता है कि आपने अपने पूरे जीवन में हम्म, लिखित की बजाय मौखिक अभिव्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है इसके क्या कारण एक कारण यह था पहले मैं लिख रहा था बहुत धड़ाधड़ हाँ। जब कम जानता था तब लिखने में डर नहीं लगता था <laughs> हजार से लिखते थे और लिख के भी लगता है ऐसा बस इस विषय का पार पड़ ली लेकिन जब एक तो क्या मेरे पठन पाठन का और काम करने का ढंग का विस्तार बहुत कोनों कोनों में फैल गया एक जगह पे नहीं रहा तब समेटना बस की बात नहीं थी और दूसरा है कि मैं पढ़ा तो अपनी जो शिक्षा की पद्धति एम ए तो इसी के माध्यम से किया लेकिन उसके बाद में सेल्फ एजुकेटेड रूप में आपको एजुकेट करना पड़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा इस रास्ते गए इस रास्ते गए तो इस तरह से पढ़ने के संबंध के अंदर कोई स्ट्रक्चर का रास्ता नहीं मिला अगर मान लीजिए मैं प्रोफेसर हो गया होता कहीं तो, तो मुझे क्लासें लेनी पड़ती तो मुझे सब कैटेगरी में बात करनी पड़ती ये तो सब तो उस किस्म का काम नहीं हो पाया तो इसलिए वो लिखना बंद और लिखने से डर लगने लग गया ये बात भी हुई तो लिखने का क्रम एक बार टूटा फिर वापस जुड़ा